और मुनाफिकीन को भी देख ले और इन मुनाफिकों से कहा गया था कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या दिफा करो तो उन्होंने कहा था कि अगर हम देखते कि जंग की तरह जंग होगी तो हम जरूर आपके पीछे चलते उस दिन जब वो ये बात कह रहे थे वो ईमान की बनस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे वो अपने मुंह से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے